पर है वह सफल विज्ञान को जिसको पहले प्रतिज्ञा कर दिया गया था उसी को आचार्य आत्मसा का अनुभव द्वारा निश्चय तुल्यता के लिए कहा गया है विश्वास एक माँ ना हम मन स्वीडी जिसलिए गाता भी क्या ना हम मन स्वीडी तो दूसरा मंत्र कहते नाम मन्ने वेदी नो न वेदेति वेदेचा यो न तद्वे तद्वेदा नो न वेदेति ना हम ना हम करके भी कहीं बिंदी भी है कहीं नहीं भी ना अहा भी अहा एक हफ्ते भाष्यकार के अनुसार में से जो तो लग रहा है स्पष्ट ही हिंदी नहीं होना चाहिए ना अहा अहा की अवधारणा तो निपात नहीं वो मंदिर भाषण करते हैं ना हम मन में अन्य पाप होना चाहिए और अहम अवधारणार्थक निपात है अर्पित होगा नहीं वो मन में सूर्य की मैं सूर्य करके गुरु को नहीं मानता हूँ ये वो मन में सूर्य की अहैध अवधारणार्थ निपात और नहीं वो मन्य चेता यावत अपरिनिष्ठितम विज्ञानम तावत स्वेदम जब तक मेरे पास अपरिष्ठित विज्ञान था अपरिपक्त विज्ञान तब तो मैं यही सोचता था मैंने विवरण को जान जान लिया हमारा ऐसे था यावत अपरिष्ठित विज्ञान तावदेव सुमेगा सुष्टुवेद अहम ब्रह्म विपरीतो ऐसा मेरा विपरीत निश्चय था फिर अब आपने जो है विचलित कर दिया मेरे विचारित करके देखा तो हमने जो मनन की ज्ञापन किया तब अनुभव में आया कि मिथ्या क्या दृढ़ ज्ञान था मेरे को कि मैं ब्रह्म को समझ कर समझ लिया ऐसे मैं सोचता था गलत था सो अपजगामा सो विपरीत प्रत्यय निश्चय अपजगामा उस विपरीत प्रत्यय को मैंने दूर कर लिया कैसे कर लिया भगवद्भिक विचारित यथोक्तार्थ मीमांसा फल भूता स्वात ब्रह्म सृष्टि रूपा सम्यक प्रख्यात आपके द्वारा विचालित किए जाने पर यथोक्तार्थ मीमांसा फल भूता वास्तविक ब्रह्मज्ञान यथोक्तार्थ मानी जो आगम कर रही थी क्या वेदाविंद से भिन्न है ना वो अर्थ जो है यथोक्तार्थ मानी उपता का विचार का फलभूत है ऊना का फलभूत और कैसा है स्वार्थ ब्रह्म निश्चय रूपात अपने ही स्वरूप को आप भ्रम करके निश्चय हो गया अब पहले लग रहा था मेरे खाली भ्रम है और मैंने उस ब्रह्म को जान लिया मेरा समझ में नहीं नहीं स्वात्मा ही ब्रह्म है मेरा स्वरूप तो ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय हो गया ऐसा रूपात सम्यक विद्या ये समझते हैं इसका गुरुदत्ता स्वपचना ऐसे समय प्रत्यय से विरुद्ध है वो क्या मन्य स्वेद मन्य स्वेद क्या है वो एक जो हमने प्रत्यय का विरुद्ध होने के नाते जो मिथ्या प्रत्यय योग जो विरुद्ध करते तो वो अपचना उसको भी दूर कर लिया अतो नाम मंदिर इसलिए मैं नहीं मानता कि मैं समय प्रकाश उसको जड़ पटारी के समान स्वभिन्न विषय रूपेण मैं उसको जान लिया हूँ ऐसा मैं नहीं मानता क्या मान दो ये समाज चतन नहीं नवेदे के मन में अब ये होगा कि तुम जानने ही नहीं तुम जानते ही नहीं हो उस चीज को जान नहीं पाए हार गए नहीं ऐसे भी नहीं सोचना मैं उसको जान भी नहीं तम नहीं है न मन सकते हैं उसको विजित रूप है ना जय ब्रह्म विदित है घट प्रणाली के समान विदित है ऐसा मैं उसको नहीं जानता छिन्न विषय रूपेणा मैं उसको नहीं जानता हूँ ये दिया जिसना जिसकी की तन नहीं अर्थात न वेदा मैं उसको वैसा नहीं मानता लेकिन कहने विषय रूपेण परिचय रूपेण अहम ब्रह्म न वेद आदित्य ब्रह्म परिच्छेद और वो अभी है ये नहीं कह सकते हम बिल्कुल नहीं जानता इसी बात नहीं है विषय में तो नहीं जानता नहीं जानता नहीं सभी तो सृष्टि रूप में बताने के समाज में नहीं जानता क्योंकि अविदित से भी निषेध कर दिया और विदित से भी निषेध करके दोनों से भिन्न लेना आपने आगम के द्वारा सुनाया था अविदित ब्रह्म प्रतिशीला अविदित ब्रह्म का भी आपने निषेध कर दिया इधरे तद ब्रह्म न वेदयती च नहीं मंदिर उस ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ ऐसे ही मैं नहीं मानता है ना यदि नहीं जानते हो तो अभिजित है अभिजित से नहीं जानते मैं उसको नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ ये भी जानता हूँ लक्ष्मी का भी जानता मैं रुद्रम को जानता भी हूँ नहीं विदित रूप है ना नहीं जानता हूँ अविदित रूप में भी नहीं जानता हूँ किंतु जो है उसको एक सामान्य रूप ना सब स्वरूप हो सकती है नहीं जानता खत्म करो मर्जी से तुम कैसे से मानते हो तो बता दो वेद छह शब्द ना नवेदा अभिप्राय छह शब्द के द्वारा अब यह नवेद वेदा नवेद जानता भी हूँ नहीं भी जानता यही अभिप्राय लेना पड़ेगा नहीं तो वहाँ चाव कहने को कोई तात्पर्य नहीं हो जाता वेगा है धीरावेदाभ्यामन्यवाद ब्रह्मण मया वेदम ब्रह्म मन यही और अवित से भिन्न होने के नाते उसको मैं विजित रूप में भी नहीं जानता अवित रूप में भी नहीं जानता किंतु दोनों से जो स्वरूप होकर मैं इसको जानता हूँ तो तस्मात मया गीतम ब्रह्मा इधर मेरे द्वारा ब्रह्म जान लिया गया है अथवा वेद चैती अथवा वेद चौथा कभी नवेद नहीं कहा ना तो पक्ष अद्भुत अगर वेद चैती नित्य विज्ञान ब्रह्म सत्या नवन वेद वेद चाहम सर्व विक्रिया भाव ऐसा नहीं कर सकते मैंने लो मैं जान लिया मृत्यु विज्ञान ब्रह्म रूप क्यों मैं जान लिया मैं हम सर्व विक्रिया भावाद उन सब में कोई प्रकार की विक्रिया नहीं होती है इतना निश्चित रूप से उसको समय प्रकार से जान चुका विशेष विज्ञान चाह परात न स्वतः लेकिन परमार्थ न चाहिए इसलिए फिर जो कुछ भी विशेष विज्ञान होगा वो तो पर के द्वारा अध्यस्त नहीं होगा तो पर में अध्यस्त नहीं होगा न स्वतः स्वतः ही विशेष विज्ञान कभी तो होता नहीं विशेष विज्ञान परिचिन्न है वृत्ति जन्म नहीं तो पराधीत ही हुआ के द्वारा अध्यस्त कर दिया गया अरे स्वतः परमार्थ को तो न चेदी इसलिए मैं परमार्थता उसको विषय रूप नहीं जानता ऐसा जो हम लोग विषय जानते हैं यौन तत्वेगा तत्वेद की पक्षांत निराशार्थम आमय उत्तापवादा इसलिए जो हम लोगों ने ऐसा उस चीज को जानते हैं तो अवश्य उस तत्व को जानते हैं ऐसा कहा करके अन्य भी कोई पक्ष हो कोई दूसरा कोई दूसरे ढंग भी जान पाएगा उस बात का भी खंडन करेगा जो भी इस चीज का अनुभव करेंगे ऐसे ही जान सकता है इसको अनेक प्रकार से होने का जैसे आपको सब भेज दिया जाए चलो भाई जाओ सब लोग घूम करके आ जाओ सर्वधाम घूम जाओ और सबको एक ही बस बिठाया जाएगा एक ही जगह रुकवाया जाएगा सारी व्यवस्था कर दी गई है और आप दिमाग में जाएगा उसके बाद आपसे पूछा जाए पहले आपको कैसा अनुभव हुआ एक पन्ने में चार सौ शब्दों में आप अपने चावधान यात्रा का वर्णन कीजिए कोई कहेगा मेरे को तालाब अच्छी नहीं कोई कहेगा कुछ कोई कुछ तो है नहीं सबका अपना अपना अलग अलग ही अनुभव रहता है समान आरोपित रहिए कि हम चारधाम गए थे ये समान अनुभव है ना हम दस में गए थे पूरे क्षेत्र में रोटी भाई तो उनकी कितने कोई सामान्य ग्रह कोई तो सभी खा देंगे इन बाकी विषय जहाँ बात कहने लगेंगे हमको ये चीज अच्छी नहीं कहे तो कुछ नहीं कहते वो अच्छी रही कहेगा तो सब अपना अपना अनुभव में अलग अलग है तो यावत पुरुष है तावत तो अनुभव भी हो गया मुंडे मुंडे मुंडी भिन्ना हो जाता है लेकिन इस ब्रह्म तत्व के बारे में जो भी इसका अनुभव करेगा तो एक ही अनुभव कहेगा तो ये ऐसा ही है स्वरूप ही है नित्य ज्ञान ही है यही बोलते बाकी किसी भी विषय में आप देख लीजिए अनुभव में भेद है चीनी खेजा तो सब तो चीनी खा कहीं कहेंगे मीठा किरा मीठा है कोई कहेगा तो फीका कोई खास मीठा नहीं लक्ष्मण कोई आधा मिल सकम क्यों खा बेटा ज्यादा मीठा था और डायबिटीज वाला तो देखने के लिए जहर था और इनका नीम का पत्ता खाया और तो मीठा कहा मीठा क्यों दे दिया मीठा खाएगी विशेष है लेकिन है था तो उसमें भी अनुभव हो फिर ऐसा उस तरह का एक रसता भी नहीं ग्रहण करना क्योंकि जिसको भी एक रस मानते हैं उसमें भी भीड़ अनुभूति इसलिए कहते हैं कि वजह को यो तभी की पक्षांतर व्यासार्थम उस ब्रह्म को कोई दूसरे ढंग से भी अनुभव कर सकता हो तो पक्षांतर का निराश करने के लिए का जो कोई भी हमें जानेंगे इसको तो ऐसा ही उसको जान सकता है कोई दूसरा रास्ता जानना चाहिए दूसरे प्रकार से आप उस ब्रह्म को अनुभव नहीं कर सकते सबका अनुभव एक ही होगा उत्तार्थ अनुवाद आमनाय उत्तार्थ अनुवाद कद आमनाय के द्वारा उस अर्थ का ही अनुवाद यहाँ पर भी इसलिए किया जा रहा है अस्माक मध्य सैव त्रम वेदा वेदा नान्य नान्य जो हम लोगों ने स्वरूप को जानता है वही जानता है जो नहीं जानता उपास्य ब्रह्म विद्वा अथवा अन्य तथा हम वेरे पक्षांतरी ब्रह्मत्म कहते कि क्योंकि जो है दूसरा नहीं हो सकता है क्योंकि जो है उपास्य ब्रह्म इन प्रकार जानने वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा उपास्य ब्रह्म कार्य ब्रह्म को ही जानता उपास्य किंचित अभी भेद पूर्वक किसी वस्तु को जाना उसने वह वास्तव में उपास्य ब्रह्म को भी जान रहा है अतो अन्य तथा अहम वेद पक्षांतरे ब्रह्म उत्तम है इसे दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ उससे भिन्न प्रकार से जानने वाला पुरुष तो उपास ब्रह्म को नहीं जानता है तो उस ब्रह्म को शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता इसलिए अन्य दूसरे के द्वारा जो क्या पुस्तक को उस ब्रह्मित्व को निराक्षांतरे जो उपास ब्रह्म को जानने वाला है उस व्यक्ति के विषय में कह दिया वह ब्रह्म नहीं हो सकता तो, तो अवश्य निर्दा में कहा भी निकाल दिया जो निगम ने की जो ऋचा पूर्वार्ध भी कहा उत्तरार्ध भी कहा दो बार क्यों कहेंगे निगम ने की ऋचा दो बार कहा ना इस मंत्र में क्यों कह रहे यही ज्ञापन दूसरा कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वह आपको परिवर्तन जो स्वरूप से भिन्न ब्रह्म को स्वीकार करता है तो कहते मैं आऊ हूं वो व्यापक क्या मान गए तो मध्यम कह रहा है कोई कहता है नहीं ये भी व्यापक वो भी व्यापक है लेकिन अत्यंत शुद्ध है शुद्ध शुद्ध है बिगड़ गया मामला प्रेम कर दिया तो कहते नहीं ये वो अलग काम अलग है पूरा बिल्कुल अलग इसेगा नहीं भेदा भेद वो अत्यंत भेद है और यहाँ भेदा भेद जी इसलिए जितने भी किंचित भी अंतर कर दिया तो कर दे वो सब वास्तव ग्रह ही है शंकराचार्य को जोड़कर जितने भी आचार्य हुए हैं उनमें से कोई भी प्रवृत्त नहीं है इसमें प्राप्ति से केवल उसका देगा है अपना अपना अनुभव का बात है अलग जैसे मान लो सौ मंजिल का मकान बिल्कुल बिल्डिंग पुरस्कार आपको भेज दिया गया दस आदमी को भेज एक को बोलेंगे दसवें मंजिल में खड़े हो जाना दूसरे को दूसरे में तीसरे को तीसरे तीसरे में ऐसे करके हर दो दस मंजिल के ऊपर अलग अलग आदमी और कहो कि जो तुम देखा उसका वर्णन करो कौन कितना देख रहा है कितना समझ रहा है शहर के चारों तरफ से देखो तो उत्तर से लेकर दस मंजिल में जाता है तो वो दो चार रोड है उनको चाहिए सवा मंजिल पे है वो कहते हैं बहुत चौड़ा अलग अलग स्तर पर खड़ा हो आदमी का अनुभव एक ही वस्तु के बारे में अलग अलग होता है अब कौन अंत में है ये क्या प्रमाण कौन सही कह रहा है सभी अपने अपने जगह से सही हो इसकी जितनी कारण छो पाई उतनी हिसाब से अपना को वर्णन कर दिया तो कोई गलत नहीं है और सभी के सभी हंड्रेड परसेंट सही भी नहीं भी शत प्रतिशत सही भी नहीं है और कोई गलत भी नहीं अपने अपने स्तर के अनुसार सभी सही लेकिन वास्तविक स्वरूप के अनुसार वो सारे गलत एक ही सही होगा वास्तविक दृष्टिकोण से एक ही सही होगा बाकी सब गलत और सही कौन है निर्णय कैसे करोगे वो निर्णय की शुद्धियों का आधार क्योंकि भाई उदरम अंतरम गुरुदे ये तो द्वैत विरोधी को तो भयम भवती क्या अनेक श्रुतियां हैं जब किंचित भी उदरम अंतर अहम अंतरम गुरु है तो किंचित भी आपने भेद कर दिया वहां भेद और जब द्वैत में समान भी आपको महसूस हुआ तो वह भय भय नहीं ऐसी श्रुतियों में स्पष्ट होता है जो अत्यंत भेद का अनुभूति कर लेता है जीव श्रम की अत्यंत ऐक्यता का अनुभव कर लेता है वह अनुभव भी वास्तविक अनुभव है और बाकी सारा अनुभव रास्ते चलते चलते विभिन्न रास्ते हैं विभिन्न सीढ़ियां हैं और ठीक है और उसमें स्टाफ भी चल रहा है वो अंत नहीं और आगे उसको बढ़ना है जब तक जीव ब्रह्म ऐक्यानुभूति नहीं होती तब तक भी उसने वास्तविक स्थिति तो को नहीं करता श्याम श्रौतम तो आख्याय का अर्थ समारा यह जो स्त्रोत मंत्र है तो आपके रेखा का ही अर्थ को तो उपसंहार करने के लिए है शिष्याचार्योक्ति प्रत्युक्त लक्षण या अनुभव युक्त प्रधान या आख्यायिकया यो सिद्ध वचने न आगम प्रदान निगम स्थानीय संक्षेप इसे क्या है ये सूत्र वाक्य है श्रौताख्य का अर्थ ये सूत्र वाक्य इसकी वाक्य भाषा स्वयं करें श्रौताख्याय का अर्थ का मतलब क्या पहले उसकी व्याख्या करें श्रौताख्याय का अर्थ मतलब आचार्योक्ति और तत्वी शिष्य ने प्रश्न पूछा आचार्य ने जवाब दिया दादृश लक्षण है यहाँ अनुभव युक्ति प्रधान है एक तो अनुभव प्रधान है युक्ति प्रदान भी है ऐसी जो आख्या है युवा प्रसिद्ध सश्रौती वचनीयम उसी अर्थ को श्रौत वचन के द्वारा आगम प्रदान श्रौत वचन मैंने आगम प्रधान वचन के द्वारा निगमन स्थानीय उपसंहार स्थानीय निगम घटन को उपसंहार प्रतिज्ञा है तो आपके रोजाना उपरि निगमनानी निगमन होता है उपसंहार निर्णय निर्णय इसलिए बीजवास्थान है ना उपसमारार्थम को व्याख्या उपसंहार्थम जो सूत्र वाक्य है हम्म। उस उपसंहार्थम को कह दिया निगम स्थानीय समीक्षेप उचित है यदुत्तम अन्य वादादि नाम अगोचर जो कहा गया था विदित से भिन्न है तो वाणी आदि का वो अविषय है और विचार करके निश्चय कर लिया गया है अनुभव है उत्पत्ति के द्वारा युक्ति के द्वारा ब्रह्म तथैव वह उसी प्रकार से ही जानना चाहिए किस प्रकार से और स्पष्ट करने के लिए कह दिया अकस्मात क्यों उसी प्रकार से जानना है क्योंकि यस्य मतम यस्य विधि विषय प्रयुक्त प्रवृत्त से साधक साधक अमतम अविज्ञातम अविदम्बम कहते हैं उस व्यक्ति ने जो है जो कह रहा है मैंने उस ब्रह्म को और जो कहता है यश आमदम पहले ले रहे हैं यश्य आमदम यश्य विधि दिशा प्रवृत्त प्रवृत्त यश्य तो बने जो जानने की इच्छा से प्रवृत्त हो रखा है जो जानने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रवृत्त पुरुष साधक आमदम अविद्यादम हम्म, है उस ब्रह्म को नहीं जानता अविदम ब्रह्म जो कहता है साधक मैं उस ब्रह्म को विजित रूप से ग्रहण नहीं कर सका घटपटारी के रूप में ना मैं उसको ग्रहण नहीं कर सका वही व्यक्ति अभिगम तो ब्रह्म भी आत्मत्व निश्चय फलावस्थान अवबोध गया तो कैसे निश्चय करा लेकिन मैं ब्रह्म को नहीं जानता तो कहने का उसका तात्पर्य क्या है क्योंकि मैं ही वो हूँ जब मई हूं हूँ तो मैं उस बालक से कैसे जानू हमें अपने आप को जानूंगा क्या तो जानने वाला अलग और मैं अपने आप को जानू वो जो जानना है जाना वो वस्तु है वो अलग ऐसे तो नहीं करता है ना इसलिए कहते हैं कि वो आत्मत्व निश्चय फला सारा बोल गया स्वरूप ही है मेरा ही स्वरूप है ऐसा निश्चय करना ही है अंतिम लक्ष्य जिस ज्ञान का तारस ज्ञान वाला होकर के विदिशा निवृत्ता अगर उसको जवाब विदिशा ही समाप्त हो जाता और जानने की इच्छा ही नहीं रह जो ब्रह्म को जानने की इच्छा से सागर था वह कहता है मैं उस ब्रह्म को घटपटादि के समान निश्चित जान नहीं सकता बोली भी मेरा स्वरूप ही है ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है कैसे निश्चय कर लिया आपने होगी आगम की और उपपत्तियों से मैंने उसको जान लिया हूँ ऐसे अब और मुझे जानने की इच्छा ही नहीं है उसको पकड़ने की चेष्टा किया जानने की चेष्टा किया जहाँ गया उसको पकड़ने और देखने को जहाँ देखता किया है वो जहाँ देखो वही है वो वही तो हो गया ना लाल देखने गए हो तो अंत में क्या होता है वहां पर वही हो जाता है दूसरा रह क्या हो गया और कैसे बोलेगा मैंने जान लिया उस ब्रह्म को अरे अलग अलग समय उसको जानोगे जब वही हो गए आत्मस्वरूप तो ही हो गया है निश्चय हो गया है तो वहां पर उसने फिर बाद में कहेगा वो हम मेरे को और कुछ जानने की जरूरत कर्म कर्तव्य प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त कर दिया गया है और कर्म कर्तव्य है कृत्यता और प्राप्त प्राप्तता का अनुभव वो कर लेता है और संसार में उसके लिए और कुछ प्राप्त नहीं है न कर्तव्य ही रह जाता है इधर कहता है विदिशा निवृत्ता जिसके लिए कर्तव्य बाकी है प्राप्ति बाकी है उसके लिए ज्ञान की इच्छा भी बाकी है उसको जानना रहा जो करना चाह रहा है उसको जानना चाहेगा जो प्राप्त करना चाह रहा है उसको जानना चाहेगा इधर जब तक आपके हृदय में कोई वस्तु की प्राप्तता है या आपके किस वस्तु के प्रति आपकी कर्तव्यता महसूस होता है तो उसमें विषय में आपको अधिक से अधिक जानना आवश्यक हो जाता है तो विधि दिशा बनी रही है नहीं हो सकती ब्रह्म ज्ञानानुभूति के पश्चात ही जीवन अनुभूति के पश्चात ही विधि दिशा निवृत्त होती है तो उससे पूर्व क्षमता उसकी संभावना नहीं होती है सत्य मतम ज्ञातम तेन वीतम ब्रह्म ये अवशिष्ट आत्मस्तर प्रतिभूत निश्चित ही उस व्यक्ति साधक ने उस ब्रह्म को जान लिया है क्योंकि अविषेक अर्थात आत्मत्व प्रतिबुद्धम वो अपने आत्मसंपत्ति ने उसको जान लिया है सम्यक दर्शी यश विज्ञानांतरम ब्रह्मात्म भाव से अवसित सर्वगत कार्याभाव विपरीण मिथ्या ज्ञानो भवती वही सम्यक दर्शी है जिसके अंदर विज्ञान अनंतरम विज्ञान के अनंतर ही क्या हुआ ब्रह्मात्मक भाव से ब्रह्मात्म ब्रह्मात्मक का निश्चय हो गया है सर्वदा कार्याभाव इसलिए वह सब प्रकार से कार्य का भाव ही अनुभव करता है कर्तव्य भाव यकीन तुम यह परतवा यह लोग में हो कहीं भी किसी भी चीज पर प्राप्त नहीं रह गया अतः उसके कोई कर्तव्य ही नहीं रह गया सर्वदा कार्य भाव में कर्तव्य भाव और जो ऐसा नहीं जानता विपरीय कार्य के अभाव का अभाव जिसके अंदर आ रहा है उन्हें कर्तव्य अभाव का अभाव अगर किसके मन में आइए मेरा ही कर्तव्य है तो विपरीय मिथ्या ज्ञान ऐसा व्यक्ति के अंदर किसी का भी मिथ्या ज्ञान है वो जीव की अनुभूति कैसे होगा क्योंकि मतम मूलभूतम ज्ञातम मया ब्रह्म यसे विज्ञानम सामिथ्यादर्शी विपरीत विज्ञानो विदिताद तद ब्रह्मणो न न जाना क्योंकि जो कहता है मतम मैंने विदितम ज्ञातम मया ब्रह्म अरे जैसा ये सूर्य होता है ना ऐसा हजारों वर्षों के समान लंबा चौड़ा प्रकाशमान ब्रह्म है ऐसे मैंने अनुभव किया तो अभी इस सूर्य प्रकाश के अपेक्षा महान प्रकाश के रूप में दे दिया परिचित है ना इससे बड़े बड़ा है बड़ा है कहा दिया किसी बड़ा ये बड़ा छोटा साधु परिचिन में नहीं होता है व्यवहार और परिचिन में तो हो नहीं सकता फिर आपने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रकाश और जहाँ जब प्रकाश में बोला था मतलब आपने दिया तो अपने दृष्टिकोण में परिचिन ग्रंथि विराट रूप देख लिए विराट में भयंकर प्रकाश होता है यह तो से हजारों के समान हमने उसका अनुभव कर लिया अभी विराट कैसे संभव करने की जरूरत है शुद्रम थोड़ा शुद्ध इसलिए जो है वो भी वास्तव में नहीं जानता है इसी तरह जो ऐसा कहता है यश विज्ञान जिसके अंदर इस प्रकार का विज्ञान है ऋषि और ऋषि वास्तव ब्रह्म ज्ञाता नहीं है विपरीत विज्ञान गीता हमने क्यों विपरीत विज्ञान वाला है क्यों विपरीत विज्ञान वाला है क्योंकि आगम ने कहा था पीड़िता अन्य ब्रह्मण से भी है ब्रह्म और आपने विदित कर लिया है जान लिया इसका मतलब है नावेद ना भी जाना अनिश्चित तत्व विज्ञान से नित्यात्मी इसीलिए सिद्ध हो गया ये जो अनागम विज्ञान अवैधिक मैंने अनागम विज्ञान है आगम विज्ञान क्या था वेद और आगम से भिन्न वो अनागम विज्ञान जिसके पास होगा आगम विज्ञान जिसका नहीं है जीवन में एक ज्ञान जिसको नहीं है उसके बाद विश्व से मुक्त प्राप्त होगा उस ज्ञान के निखार करेगी विषय क्या निंदित होता क्योंकि जो है वह ज्ञान कैसा है अब्रह्म विषय कौन क्या है वह निंदित है उसके लिए मनुस्मृति बताएंगे निंदित होता कथाया कपिल कण भुगारी समस्या भी वीर ब्रह्म विषयता इसी प्रकार से कपिल हो कणभुक कणभुक कौन था कणाल नहीं कपिल तो से योग ले लेना आप तो फिर पतंजल और से ले लेना आप वैशिष्टिक वाला साथ में नहीं है गौतम ले लो और उन्हीं का अनुसरण करने लगे को भी लेना आत्मा के ऊपर पत्थर के बारे में इसमें हमने पांचों दर्शन कही है और इत्यादि कह लिया आदि से उनको भी ले लेना जो अद्वैत वेदांत वेदांति मानते अपने आप अद्वैत वेदांति मानते हैं विशिष्ट तो अद्वैत तो मानते हैं विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत मानते हैं जितने भी अन्य लोग हैं ये तो सारे के सारे भी आवश्यक लेना इत्यादियों का समय आदि समय में दर्शन समय कहते हैं दर्शन दो उन सभी के द्वारा लिखा हुआ दर्शनों को आप समझो अश्पी विजित ब्रह्म विषयता और केवल परिचिन ब्रह्म विषय कही है अनुभव में तर्कजन्यता क्योंकि उनके वो सब उनका जो निश्चय करता है अनुवस्थित तर्क जन्म विचार सब तार्किक लोग हैं इसलिए विविदिशा अनिवृत्त मिथ्यात्मक इसलिए उनकी दिशा की निवृत्ति होती नहीं है अतः उनके लिए मिथ्या निश्चय हो गया उस विज्ञान में मिथ्या स्मृति स्मृति स्मृति में विचार स्मृत काश्च कुष्ठ सर्वास्ता निष्फला तमो निष्ठाता स्मृता बारहवें अध्याय पंचानवे श्लोक याद बाह्या स्मृति हो जो वेद बाह्य स्मृति है मैंने एक अद्वैत तत्व समर्थन करने वाले नहीं है ऐसी जितनी भी स्मृति है चाहे किसी आचार्य के दिन लिखा हो ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ हो किसी के द्वारा भी लिखा हुआ पंथ संप्रदाय सारे को ले लिया या वेद भाई हो सब वेद भाई समझते या कुदृष्ट और जो कोई भी इस अद्वैत खुचड़ी भी का पंचाने के वाले लोग कुदृष्टि वाले लोग हैं वो सारी सारी कुदृष्टिया विचार को सिद्धांत सर्वास्था निष्फला उन सभी को आप निष्फल समझें तमोनिष्ठा है का क्योंकि सब जो सब में कहीं न कहीं दुराग्रह है कहीं न कहीं उनके अंदर ऐसी वासना भरी पड़ी थी वो अद्वैत को सुनकर उनको सहन नहीं हो पाया सुने भी सभी अद्वैत पे पढ़े सभी अद्वैत चेहरे हैं अद्वैत गुरुओं के ही और वो गुरु के खिलाफ लिखना क्यों अंदर से दुराग्रह वो इतना दुराग्रह है वासनाएं ऐसी थी तो अवश्य भी था संसार में जो है ये सब जरूरी है भगवान ने ध्यान जी किया है ये सब जो गलत नहीं है तो इसलिए हम बोलते हैं रामानुजोच रामानुजोच रामानुजो माधव निम्बाको वल्लभ हो सब की जरूरत थी क्योंकि सारी दुनिया अद्वैत वेदांत की योग्य अधिकारी नहीं है तो घंटी भगवानी की अधिकारी है तो उनके लिए ऐसी वैष्णव आचार्य की जरूरत थी तो इसलिए वैष्णव आचार्य नहीं हुए ऐसे भी शैव आचार्य नहीं हुए जो कहा नहीं पूजा पाठ करो ये करो कर्म नहीं आ सकती द्वैत भाव में लेकर के चलो तो ठीक है वो भी आवश्यक है तभी तो आप प्रगति करोगे सारे के सारे सारी जो पैदा हो सीधा डिग्री यूनिवर्सिटी में भेज पी एच डी करनी है ऐसे थोड़ी होता है जो पैदा होगा वो तो नर्सरी में जाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड पड़ेगा सेकंड स्टैंडर्ड पड़ेगा तीसरी चौथी पांचवी कक्षा करते करते ही तो आगे बढ़ेगा ना यहाँ पर भी अनेक संप्रदाय में धक्का खाते खाते खाते अनेक जन्म लग जाता है तब अंत में अद्वैत संप्रदाय में उसको निष्ठा वो तो अंतिम जन्म माना जब मानो उसके अकल में थोड़ा बहुत घुसा लगता है और उसमें श्रद्धा कर दिए अभ्यास करेगा फिर दो चार जन्म उसी संप्रदाय में जन्म ले लेकर के अंत उसका एक काल की गति धीरे धीरे समय लेने वाली चीज इससे इसको आप लोग तो सारे जैसा निष्फल है समझो अमोनिष्ठा हिता स्मृता यहाँ तक कह दिया तमोनिष्ठा हिता स्मृता अज्ञान मूलक मिथ्या मूलक यहाँ तमोनिष्ठा मतलब अज्ञान मूलक इनके अंदर किंचित अज्ञान है अज्ञान मूलक होने के नाते वह सारे के सारे जो है ना निष्फल माने गए हैं तो पंच यज्ञ महायज्ञ सबने पर पूछा वायज्ञ सिद्धेश ग्रामीण गुरुदेव मनुस्मृति का ही था और वहीं पर पास में ही महायुद्धों को भी बताया कौन सा कौन सा और पंच यज्ञों को भी पंच यज्ञ अलग है पंच महायज्ञ भी अलग अलग अलग तो उसी जगह पर है तो पंच महायज्ञ हो गया अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृज्ञ सुतर्पणम होमो दयो बलिर्बोधो अतिथि पूजनम वेदों का अध्ययन कराना ब्रह्म यज्ञ हो गया तर्पण श्राद्ध आदि करना पितृयज्ञ हो गया देवदांगिर होम आदि करना दैव यज्ञ है और भौत यज्ञ में बलि देना अन्न का बलिदान देना और जो है निर्यज्ञ करते अतिथि पूजा से पंच महायज्ञ और पंच के गण जपो हुतो हुतो हो वहा प्रभुतो हो बलि ही बाह्यम ब्राह्मम हुतम विजाग्रार्चा राशित पितृतर्पणम ये पंच यज्ञ महायज्ञ नहीं यज्ञ केवल कौन है जपो अभूत यज्ञ अभूत यज्ञ क्या है जप भूत यज्ञ हो स्मार्थ हो स्नौत नहीं लेने यहाँ स्मार्थ और प्रभु क्या है भौतिक बलि तो जो चिंटी फिंटी वगैरह को चिड़िया को खिलाते पिलाते ना भौतिक बलियों को वो कहते हैं प्रभुत्व यज्ञ और ब्राह्मण क्या है छा उदम ब्राह्मण ब्राह्म भूत यज्ञ पहले केवल ऋतु था अब ब्राह्मण होते हुए भी क्या है विजाग्रों की पूजा आ रही ब्राह्मण आदि को बुलाना पूजा कर दिया खिलाया पिलाया दक्षिणा दान पानी कर दिया ये जो है ब्राह्मण बोलते हैं और पराशित क्या है पितरों के लिए अर्पण आदि ये दोनों में बराबर दिया है पितृयज्ञ वहां का जो महायज्ञ ने उसने यहाँ पराशित नाम से कहा गया पंचयज्ञ ये दस चीजें जो है ना यज्ञ और महायज्ञ शब्द से कहा जाता है इन्हीं यज्ञों के द्वारा ब्राह्मण प्रेरित हूँ तो ऐसा वहां पहले कहा तो विचार तो इसने कहा यज्ञ तो तो स्मृति ने कहा या वेद या स्मृतिगा याश का चतुर्दृष्ट यहाँ सर्वात्मा निष्फला प्रोक्ता तमो निष्ठा विकास बताई दी और एक सूत्र ला रहे विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्ठत्व तिथि विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्व सूत्र वाक्य विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ये दोनों ही अनर्थकारी होता है यह बात यह निश्चित हो गया स्मृति से यह बात स्पष्ट हो रहा है लेकिन श्रुति से स्मृति कैसे निकाला आपने उसके लिए कहते हैं और विजानता ज्ञातम अभिजानता अज्ञातम विजानताम विज्ञातम च अभिजानताम इसके आधार पर अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम ही पूर्व हेतुक्ति अनुवाद से अनुद्या पूर्व हेतुक्ति ही हाँ? मैंने पूर्व में जो कहा हुआ पूर्व हेतुक्ति ही पूर्व में कहा हुआ आदम के प्रति ही इसको आवर्तन प्रस्तुत किया मैंने पूर्व में जो कौन सा लाया था अभी आपने जो स्मृति जब कहा था कि भाई वेद वाय जितने भी वो सब अनिष्ट निष्फल है क्यों निष्फल है क्योंकि विपरीत ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान है ये इसलिए हुआ क्योंकि जो है क्लास स्पष्ट कर रहे हैं जो कहता है कि मैं अविज्ञात वो जानता है और जगह मैं विज्ञात हूँ वो अजानता है नहीं जानता एक पूर्वेशम ब्रह्म काम अविद्या तत्व ब्रह्मण प्रसिद्ध क्योंकि पूर्वाचार्यों के अंदर ये देखा गया जो ब्रह्म को विचारता ब्रह्म को जानने वाले हैं वो तो अविद्या तो तेरे ब्रह्म प्रसिद्ध उनके लिए अविद्या तो फिर ब्रह्म प्रसिद्ध है अंधगिरी प्रसिद्ध इधानी अभी अविषेतया ज्ञानम तथा पूर्वेशम अविशाम विद्या तत्व ब्रह्मण प्रसिद्ध इधानी अभी विषेतया ज्ञान असंबित अनुमति जिसने पूर्वाचार्यों में जो कोई भी लोग हैं उन लोगों ने उस ब्रह्म को जानते हुए यही कहा और उसका कोई विषय रूप नाम जान नहीं सकते अविज्ञात के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध और अविषयतया क्योंकि वो अविषय और बताया जो पूर्वेशन अविदेशन जब पहले अनाधिका थे जो अविद्वान लोग हैं वो विज्ञात के लिए ब्रह्म प्रसिद्ध थे वो तो ब्रह्म को अपने से अलग करके पकड़े आए हुए हैं और वे वास्तव में विशेष ज्ञान कर लिए हैं उस ब्रह्म को अतः वो असम ज्ञान है सारे ज्ञात विजानता ज्ञात विज्ञानता विधि पूर्व हेतुक्ति अनुवाद से अंत पूर्व हेतुक्ति अनुवाद से आनंद अनुवाद मात्र अनुवाद संरचन यदि अनुवाद मात्र किया जा रहा है तो वचन व्यर्थ हो जाएगा इसलिए वो पूर्वोत्तर कथन क्या करना इसको हम कहेंगे ये पूर्व में कहा वस्तु के प्रति कारण है ऐसे क्यों कहा ऐसे मतम दसमतम मतम जैसे नवे देखा क्यों मतलब स्थिति किसान वर्ग क्या किया क्योंकि जो हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया तो विज्ञान काम विज्ञान ज्ञान हेतु कम ये तो है ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा अनुवाद करने का कोई प्रयोजन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए कहते पूर्व में कहा हुआ वस्तु के प्रति हेतु समझो नहीं तो अनुवाद नहीं तो क्या वो अनुवाद व्यर्थ हो जाएगा अनुवाद मात्र अनुदम वचन विधि पूर्वोक्त योग हो यश्यानुत इत्यादि न ज्ञान अज्ञान यो हो हेतु इधम है ना अनुमान मात्र करोगे तो हमें हो जाएगा वचन इसलिए समझो पूर्वोक्तो हो कौन सी पूर्वोक्त दो यश्या मतम एक मतम यशा न जैसा दो दो बात कही गई यश्या अमदम तस्य मतम एक दूसरा कौन है मतम नृत्य इन दोनों के प्रति यश अमन इत्यादि ना ज्ञान अज्ञान वो हो पहले वाला ज्ञान था दूसरा वाला ज्ञान था उनके ना उनमें ही उन संपोषक प्रमाण के रूप में ना इधर उच्चक हो अविज्ञातम मैंने अवीतम आत्मत्व अविशेष ब्रह्म जो विजानता अविज्ञात मैंने अवीतम आतत्व अविशेष क्यों आत्मा ही है आत्मत्व अवीतम वह आत्मा ही होने के नाते वो विषय रूप में ग्रहण नहीं होता अतः अविशेषया ब्रह्म जानता अविषय रूपेण जिस व्यक्ति ने ब्रह्म को जान दिया है उन लोगों ने कहा तस्मा जिसलिए तस्मात तदेव ज्ञानम तेषा विज्ञातम पीतम व्यक्तम निश्चित रूप से वही ज्ञान वास्तव ब्रह्म का विज्ञान है तेषा पूर्वाचार्य नाम विज्ञातम वित्तम तो मेरे बुद्धि आदि विषय ब्रह्म अभिज्ञान था और यह बात